पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बड़ा अजीब हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर उसकी आइडेंटिटी को बदलवाने की कोशिश कर रहा था अभी कुछ ही दिन पहले उससे एसएसपी रोनित चौहान ने एक सीक्रेट मिशन पर काम करने के लिए कहा था उन्होंने कहा था कि ये हायर अथॉरिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और वो विक्रांत को स्पेशली इस काम पर करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे इसके बाद डीसीपी डिसूजा सर ने भी विक्रांत को अपनी खास डायरी पकड़ा दी थी और वो चाहते थे कि विक्रांत उनके ओल्ड केसेस पर काम करे और फिर अब नैना नैना ने तो विक्रांत का दिमाग ही फिरा दिया था नैना ने भी विक्रांत को अपने साथ काम करने के लिए कहा था इस वक्त विक्रांत काफी कंफ्यूजन में था आखिर वो क्या करे किस रास्ते पर जाए कौन से केस पर काम करे कौन से मिशन पर जाए और और कौन से मिशन को छोड़ दे विक्रांत एक एक करके तीनों सिचुएशन के बारे में सोचने लगा सबसे पहले तो उसे एसएसपी रोनित ने एक खास केस पर काम करने के लिए कहा था और उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो खुद ही आगे इस केस के बारे में बताएंगे तो अभी खुद ही जाकर रोनित से केस के बारे में पूछना ठीक नहीं है इसके बाद डीसीपी डिसूजा साहब ने विक्रांत को अपनी खास डायरी दी थी जिसमें उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट केसेस की डिटेल थी इन केसेस को डीसीपी डिसूजा साहब भी अपने पूरे सर्विस टाइम में नहीं सॉल्व कर पाए थे विक्रांत ने पिछली रात उस पीली डायरी को पढ़ा भी था उसमें तो ऐसे ऐसे केसेस के बारे में लिखा था जो कि महाराष्ट्र की नहीं बल्कि इंडिया लेवल के केसेस थे वो केस काफी पुराने होने के साथ ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी थे अब सोचने वाली बात है कि जब डीसीपी डिसूजा साहब इतने होशियार ऑफिसर होते हुए भी उन केसों को सॉल्व नहीं कर सके थे तो फिर भला विक्रांत उन्हें कैसे इतनी जल्दी सॉल्व कर सकता है वो केस तो इस किडनैपिंग केस की तुलना में भी सौ गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अब भले ही विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति की ताकत है फिर भी ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ स्पेशल पावर की ही जरूरत नहीं पड़ती बल्कि काफी अनुभव की भी जरूरत पड़ती है सो अभी उन केसेस पर हाथ डालना विक्रांत को ठीक नहीं लग रहा था अब बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की नैना के केस की नैना का केस बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले दोनों सिचुएशन में तो विक्रांत को कोई खतरा नहीं है लेकिन इस केस में उसे जान की भी बाजी लगानी पड़ सकती है सच कहे तो विक्रांत को तो पहले से ही शक था कि मंजू के मर्डर के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश थी लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मंजू मैडम के मर्डर के पीछे किसी पुलिस वाले का भी हाथ हो सकता है जब नैना ने उसे ये बात बताई है विक्रांत को बहुत बुरा फील हो रहा था नैना का अचानक से ट्रांसफर होकर यहाँ डीएन नगर ब्रांच पर आना विक्रांत को शुरू से ही खटक रहा था उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होने का शक पहले से ही था हालांकि नैना ने अभी तक विक्रांत को ये नहीं बताया कि आखिर मंजू मैडम अपनी मौत से पहले किस केसेस पर काम कर रही थी वो केस किससे रिलेटेड था और और ये केस इतना डेंजरस क्यों था नैना ने विक्रांत को बस इतना बताया था कि हायर अथॉरिटी ने सीक्रेटली मंजू मैडम को उस केस पर काम करने के लिए लगाया था और हायर अथॉरिटी ने सीक्रेट काम करने के लिए भेजा है वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि विक्रांत नैना के आगे सिर्फ इसलिए एक्टिंग कर रहा था ताकि नैना इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाए वो किसी भी तरह से नैना को रिझाने की कोशिश कर रहा था उसे सच में नहीं पता था कि उसका प्लान यहाँ उल्टा पड़ जाएगा वैसे भले ही अब विक्रांत ने नैना के साथ इस केस पर काम करने के लिए मना कर दिया है लेकिन ना जाने क्यों उसे ये करने के बाद थोड़ा भारीपन सा फील हो रहा था विक्रांत ने तो पहले ही खुद वादा किया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मंजू मैडम के कातिल को ढूंढ निकालेगा और चाहे नैना आती चाहे ना आती वो मंजू मैडम के असली कातिल को जरूर ढूंढता दूसरी बात विक्रांत ने इसलिए भी नैना के साथ इस केस पर काम करने का डिसीजन लिया था क्योंकि भले ही ये काम खतरे से भरा हुआ है लेकिन इस केस के बहाने विक्रांत को नैना के करीब भी जाने का मौका मिलेगा विक्रांत को लग रहा था कि ये काम सीक्रेट है तो बेशक जब भी इस बारे में मेरी नैना से बात होगी तो वो अकेले में ही होगी और नैना ने बताया था कि इस केस पर काम करने के लिए उसे एक अलग से फोन भी दिया जाएगा और नॉर्मल ड्यूटी के बाद उसे इस केस पर काम करना होगा सो विक्रांत को इस बात का काफी चांस लग रहा था कि नैना और उसके बीच अब कनेक्शन बन सकता है क्या पता ये केस नैना को उसके पास लाने का एक बहाना बन जाए इसी खुशी के साथ विक्रांत ने नैना के साथ सीक्रेट मिशन पर काम करने का फैसला कर लिया था इतना सब कुछ सोचने के बाद विक्रांत ने फिर अपना दिमाग उन्नीस के किडनेपिंग केस पर लगाना शुरू किया क्योंकि अभी वो ड्यूटी पीरियड में ही है तो अभी उसे रूटीन काम ही करना है मंजू के मरने के बाद इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही थी विक्रांत को भी अपने अदृश्य शक्ति की मदद के बाद भी कुछ खास जानने को नहीं मिल पाया था पुलिस लगातार चारों तरफ हाथ पैर मार रही थी लेकिन रिजल्ट जीरो ही था ये सब देखते हुए विक्रांत के दिमाग में फिर से गजेंद्र ठाकुर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ख्याल है क्योंकि अभी वही ऐसा सस्पेक्ट है जिसका कनेक्शन करजत की उस माइंड से दिख रहा है न जाने क्यों विक्रांत को लग रहा था कि गजेंद्र के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ पता लग सकता है और और रही बात मंजू की मौत की भले ही नैना ये कह रही थी कि मंजू के मर्डर का किडनैपिंग केस से कोई लेना देना नहीं है फिर भी विक्रांत का दिल अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं था हो सकता है कि जो आदमी साल उन्नीस में उस किडनैपिंग केस में शामिल रहा हो वो अब पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा ऑफिसर बन गया हो या फिर हो सकता है कि उसका कोई दोस्त या बेहद करीबी पुलिस में हो जिससे उसे पता लग गया हो कि मंजू किडनैपिंग केस के असली मुजरिम तक पहुंचने वाली है और फिर उसने मंजू का मर्डर करवा दिया हो और फिर साजिद को बलि का बकरा बनाकर पेश कर दिया हो विक्रांत ने गहरी सांस ली और फिर उसने निश्चय किया कि अब गजेंद्र ठाकुर के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा वहीं से कुछ पता लग सकता है